क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा फिर हमने उसके जरिए रंग बरंग के फल उगाए और पहाड़ों में भी ऐसे टुकड़े हैं जो रंग बरंग के सफेद और सुर्ख हैं और काले स्याह भी